जाए तो सूरत नहीं देखी जाती एक तबसुम पे तो आलम को निछावर कर दू अरे माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती मैंने दिल दिया मैंने दिल दिया प्यार की हद थी मैंने जान दी एतबार की हद थी मर गए हम खुली रही आंखें ये मेरे इंतजार की हद थी तुम यते deter. आप कितने खूबसूरत हैं तेरी सूरत अरे तुझी को तकने लगे तू जो आया मस्जिद में नमाज सब ने कजा की तेरी अदा के लिए तेरी सूरत तेरी देखे तो चुन चुन के सारे सनम तो डाले तेरी में तुम चले आते न करते बात मगर देख तो लिया करते जो देख पाते तेरे रुख को बुद्ध का दे वाले तो राम राम के बदले खुदा खुदा करते तेरी आपसे एक बात कहनी है आपसे एक बात कहनी है छोड़िए खैर कोई बात नहीं तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तफरीक है अरे क्या करूं मेरा दोनों पे ईमान है क्या के घर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं तो दे घर सनम रू चोल लगते गए फसाने में राज खुलता गया छुपाने में और तूने तिनके समझ के फूक दिए मेरी दुनिया थी आशियाने में मैंने खाके नशे मन को बोसे दिए और कह करके दिल को ये समझा लिया कि आशियाना बनाना मेरा काम था कोई बिजली गिराए तो पैदा करूंगे आशियाना लीजिए सुन लीजिए काफी देर से शोर मचा रहे थे आ गया वो शेर आशियाना बनाना मेरा काम था कोई बिजली गिराए तो मैं लीजिए जाने कलाम और कोशिश करूंगा कि ताज़े शेर बहस में लाऊं आज सुन लीजिए पीने का मुझको अरे ज्यादा न था तर के तौबा का कोई इरादा न था अरे मुझ पे मत न रख मैं शराबी नहीं वो नजर से पिलाए तुम शराबी फसले गुल है शराब पी लीजिए फसले गुल है शराब पी लीजिए शर्म कैसी जनाब पी लीजिए और जो पिए छुप के वो मुनाफिक है बेतकल्लुफ शराब पी लीजिए आगे चलकर हिसाब होना है इसलिए बेहिसाब पी लीजिए जन्नत चुमी ले ला कर हाँ भैया जन्नत जो मिले ला कर मैं खाने में रख देना और कौसर को मेरे छोटे से पैमाने में रख देना अरे मैयत न मेरी जाकर वीराने में रख देना बल्कि पैमानों में दफना कर मैं खाने में रख देना एक काम और करें साकी साकी दरे में खाना अभी बंद न करना शायद मुझे जन्नत की हवा रास न आए मैं शराबी शराबी मैं शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी सामीन जब मैंने गालिब का यह शेर पढ़ा हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले सामीन मैंने सोचा इंसान महद से लगाकर लहद तक ख्वाहिशात के अंदर मुबतला मुलविस है मैं शराबी मेरी क्या ख्वाहिश है सुन लीजिए अरे मैं मैं शराबी ताजो तख्तो हुकूमत नहीं मांगता अरे तीनों दुनिया की शरबत ये भी नहीं मांगता और मेरे साकी में दौलत ये भी नहीं मांगता फिर सुन लीजिए ताज तख्तो हुकूमत नहीं मांगता दीन दुनिया की शरबत नहीं मांगता मेरे साकी में दौलत नहीं मांगता बल्कि साकी साकी मेरा एक काम कर अरे मैं खाना मेरे नाम कर मैं शराब शख्स हाँ जी खाली है अभी जाम मैं कुछ सोच रहा हूँ अय गर्दिश अयाम मैं कुछ सोच रहा हूँ पहले बड़ी रगबत थी तेरे नाम से मुझको अब सुन के तेरा नाम मैं कुछ सोच रहा हूँ साकी तुझे कुछ थोड़ी सी तकलीफ तो होगी सागर को जरा थाम मैं कुछ सोच रहा हूं क्या कल रात कल रात मैं कदे में अजब हादसा हुआ जाहिद शराब पी गया मेरे हिसाब में मैं शराब बातें मैंने वो सुना दी जो रिकॉर्ड में कही अब सुन लो अरे मैं मैं शराबी तवज्जो सकत शकस्त हाल है शकस्त हाल है दुनिया के भी सताए हैं तेरे सवाल का यारब जवाब देते हैं बरोज हशर है इतनी भी जल्दबाजी क्या जरा शराब तो पी लें हिसाब देते हैं जी जी मैं अर्ज कर दूं सुन ले जी बरोज हशर है इतनी भी जल्दबाजी क्या जरा शराब तो पी लें हिसाब देते हैं सामीन मैंने सोचा अल्लाह जानता है कि मैदान कयामत होगा पूरी की पूरी मखलूक वहां जमा होगी मैंने सोचा अजीज नंबर ही आना मुश्किल है फिर एकदम दूसरा ख्याल आ गया कि ये कोई जरूरी थोड़ी है के सबके लास्ट में हूंगा अगर बाई द वे पहला मेरा ही नंबर आ गया उन्होंने मुझसे पूछा क्यों भाई तुमने तो मैं इकरार कैसे करूंगा ये सुन लो अरे मैं मैं शराबी अगर खाए अगर खाए वाइद ने अंगूर तो मैं मैं शर्म में कह दूंगा अय अल्लाह ये शराब की गोलियां खाते थे हम सागर से पीते थे मैं जानता है बड़ी देर के बाद शेर होता है खुदा शाहिद है साकिनान लाहौर अहले इल्म का ये मरकज़ है इल्म अदब का गहवारा है यही शहर है जिसने मुझे भी दावा ज़िंदगी भर रहेगा चाहे कहीं अब रहूं लेकिन अजीज़ मियाँ इसी शहर से बना हूं आइए शेर वो सुना जाऊं जो तकरीबन एक साल याद रखोगे कि शेर सुनाया था सुन लीजिए है शराबी बड़ी हसीन है बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम पी लीजिए बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम पी लीजिए और हमारे हाथ से दो चार जाम पी लीजिए फिर सुन लें अरे बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम पी लीजिए और पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब फिर नहीं रहती हराम पी लीजिए फड़िया तो मैं ही जावगा ताडा की ਜਾਂਦਾ अरे बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम पी लीजिए और पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब फिर नहीं रहती हराम पी लीजिए मैं शराबी शराबी शराबी सामीन अपने असल मजमून की तरफ आ जाऊं सामीन ये शराबी जो आपके आगे पेश कर रहा हूं मैं आपको असल वाक़ सुना दूं इसी शहर का वाक़ है मेरे लाहौर का आज भी वो बात मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब इसे लिख रहा था तो गालिबन जमेरात का दिन था और मैं हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमत के ने मज़ार की जानब खड़ा था सामने दाता गंडबख्श का मज़ार था और महवे दुआ था दुआ मांग रहा था आप यकीन मानिए दुआ मांगते मांगते आमद शुरू हो गई मैं दुआ तो भूल गया शेर जो उतरने शुरू हुए वहाँ खड़े होकर दुआ तो छोड़ दी मैंने शेर लिखने शुरू कर दिए वहाँ खड़े होकर जो मैंने शेर कहे सुन लीजिए अरे मैं मैं शराबी आइए बता दूं कि मैंने दुनिया के कोने कोने में खा वो अफ्रीका है या अमेरिका यूरोप है या मिडल ईस्ट जहाँ भी मैं गया खुदा ने मुझे ये मौका भी दिया कि इन्हीं साजों के साथ मैंने बैतुल्ला शरीफ के सामने बैठ के भी कवाली की है लेकिन और दुनिया के कोने कोने में मैंने अपने इस कलाम को पढ़ा क्यों आखिर इसकी वजह क्या है वो क्या है वो कौन सी शराब है जिसका मैं प्रचार करता हूं और वो कौन सी शराब है जिसके लिए मैंने अपने आप को मैं शराबी कहा सुन लीजिए दुनिया के कोने कोने में मैंने बयान किया है करता रहूंगा सुन लीजिए अरे मैं मैं शराबी के देसी ना पीऊंगा अरे देसी ना पीऊंगा मेरे दाता तेरे कुर्बान वलियों के तसदुक में वलायत की पिलाडे में शराबी शराबी शराबी बस सबूत दे दू मैं मैं शराबी अल्लाह तेरी रहमत की कसम तेरी मोहब्बत की कसम तेरी इनायत की कसम तेरी शिफात की कसम बड़ी कसम हबीब खुदा की कसम शब हिजरा की कसम काकुले पेचा की कसम नरगिसी आंखों की कसम जलवा जाना की कसम हुसन यूसुफ की कसम इश्क दुलेखा की कसम यद बैजा की कसम दम ईसा की कसम हैबत मूसा की कसम बादू हैदर की कसम हल्के असकर की कसम चादर जैनब की कसम है शराबी इस कायनात में एक अकेला मैं नहीं बल्कि बकौल मौलाए रूम शम्स तबरेज का मुरीद जलालुद्दीन रूमी का कौल है वो फरमाते हैं कि एक अकेला मैं नहीं शराबी फरमाते हैं कि नमन दरी में खोना मस्तम नमन दरी में खोना मस्तम बल्कि चुने दो शिबलियो अत्ता और सुदमस और बरुए पाक शमसुद्दीन तबरेज कि मुल्ला बरसरे बाजार शुदमश मंसूर ने तो सुल पे खुद को चढ़ा के भी तबरेज ने भी खाल को अपनी खिंचा के भी शर्मा जो थी वो मस्ती में सर को काटा के भी यूसुफ ने अपने हुस्न का जलवा दिखा के भी अयूब ने भी सब्र की हद को मिटा के भी ऊसा ने कहो तूर को सुरमा बना के भी ईसा ने तुम्हें इन से मुर्दे जला के भी अकबर ने अपनी सारी जवानी लूटा के भी अफगान ने सुखी हल्क पर बस तीर खा के भी कासिम ने अपने शेरे की लड़ियां कटा के भी अब्बास ने तो दरिया पे शाह ने कटा के भी शब्बीर ने नमाज में सर को कटा के भी Oh. कलंदर तवज्जो इश्क सिखाता है आदम बेखुदगाही खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही आईने जवा मरदा हक गोइयो बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही अय ताईरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही अतार हो रूमी हो मिया राजी हो गिजाली हो कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाही और दाराओ दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीरूला हो जिसकी फकीरी में अरे पुए पूरे असदुल्लाह क्यों कि एक मर्द कलंदर हम औसाफ लगाना कलंदर